नित्यानि एतानि च बल प्रमाद सप्तमानसी लिंग युक्तानि संन्यासितानि आत्म प्रार्थना में जो सहाय भूतानी कौन कौन एतानि साधन ये साधन है कितने हैं ये बल अप्रमाद तपांसी लिंग युक्तानि मैंने संन्यासितानि संन्यास युक्त बल अप्रमाद और तप ये तीन साधन है इसमें क्योंकि अयम आत्मा बलहीन बल प्रहीन आत्मृष्ट जनित वीरहीन न लभ्य क्योंकि ये जो आत्मा है बलहीन के द्वारा बने बल प्रहीन बल कमजोर व्यक्ति कमजोर क्या है आत्मनिष्ठा जनित जो वीरी है आत्मनिष्ठा जनित वीर मैंने निष्ठा जनित क्या है श्रवणादि लक्षण अनन्य व्यापार तजनिदा आत्मनिष्ठा क्या है श्रवणादि में निष्ठा और अनन्य व्यापार उससे बिन कोई व्यापार नहीं करने वाला कोई व्यवहार नहीं जगत संबंधी तेरा तादृश व्यापार से जन्य जो सामर्थ्य है उससे हीन के द्वारा न लभ्य ना तो लौकिक पुत्र पशुवादि विषय संघ निमित्त प्रमाणात लौकिक पुत्र पशु विशेष विषय निमित्त जो प्रमाद है उस वाले पुरुष से भी नहीं हो सकता क्योंकि उसकी आत्मनिष्ठा नहीं है अनात्मनिष्ठा है तो वह भी आत्मलाभ नहीं प्राप्त कर सकता तथा तब स्वाप्य लिंगात लिंग रहित तपोत्र ज्ञानम लिंग रहित संन्यास रहित उपासना संन्यास रहित उपासना संन्यास रहित कर्म और संन्यास रहित जो है श्रवणादि जो है वह भी व्यर्थ ही है लिंगम संन्यास संन्यास रहता ज्ञान न लभ्यते संन्यास रहित ज्ञान से भी लाभ नहीं होता संन्यास रहित ज्ञान लभ्यते मन एतिर उपाय बल अप्रमाद संन्यास ज्ञानी बल अप्रमाद और सन्यासी जो उपासना के द्वारा यत तत्पन जो प्रयत्न करता है वह व्यक्ति तत्पर होकर प्रयत्न यत्न कैसे करेगा तत्पर होकर प्रयत्न करना है अन्य पर होकर प्रयत्न करने वाले को भी नहीं मिलेगा ज्यादातर लोग यही है ना लक्ष्य तो अन्य है लेकिन यहाँ श्रवण कर रहे हैं अन्य पर होकर श्रवण हो रहा है तत्पर होकर श्रवण नहीं है श्रवण का पीछे एक ब्रह्मचारी जी थे जब हरिद्वार में पढ़ा करता था नब्बे इक्यानवे की बात है और जो भी कहानी बोल दे प्रसंग वशात उन कहानियों को लिखते थे अमुक प्रसंग में कहानी बताया गया अमुक प्रसंग में कहानी बताया गया बहुत संख्या में इकट्ठा हुआ सब पढ़ाई के बाद ने पूछा क्या हुआ क्या आपको लाभ हुआ सुनने से क्या हुआ बताओ अब तब पूछते ही नहीं जा बस पढ़ लिया हो गया जा पढ़ लिया ना उसे पूछने की क्या जरूरत जो पढ़ा है उसे पूछने की जरूरत नहीं श्रवण किया है तो सुना पूछा भी जा सकता है क्या श्रवण किया है तो उसी हिसाब से पूछा भी जाए और पढ़ने आते हैं तो उनसे क्या पूछना है वेदांत तो पढ़ने की चीज है नहीं और पढ़ना चाह रहा है तो क्या मिलेगा उसको मिलेगा तो कुछ नहीं इसे पूछने की जरूरत ही नहीं है ना तो उसे पूछा है तो उसने ये कहा महाराज हमको तो बहुत अच्छा मिला कि इतने सारी कहानियां मिली जहां जाऊंगा खूब बढ़िया बोलूंगा बहुत बढ़िया बढ़िया कहानी आपने दिया है और प्रशंसा कई जड़ी बुटिया भी आपने बताई दवा पानी बता दिया और उससे भी हमारे दुकानदार बढ़िया पुड़िया बांधते रहूंगे क्या दिक्कत क्या लाभ वो अन्य पर था ना उसका श्रवण लक्ष्य ही अन्य था तो इसलिए कहते भगवान भाष्यकार या तत्पर सन प्रयत्न करते हो तत्पर होकर ही प्रयत्न करें यस्त विद्वान जो विद्वान ऐसा करता है विवेकी आत्मवित्त आत्मित्ता तस् विदुष एव उस विद्वान के प्रति ही एस आत्मा विशद विशद ब्रह्म धाम वह जीवात्मा वह ब्रह्म स्वरूप जो अपना धाम है उसी में वो प्रवेश कर जाता है अगर लक्ष्य भेदन हो जाता है कथम ब्रह्म संविशद आपने आत्मा विशदे ब्रह्म धाम कहा था ना आत्मा विशदे प्रमदाव उसी में प्रश्न डालते हैं कदम ब्रह्म संविशद यह आत्मा ब्रह्म कैसे प्रवेश कर जाता है ऋषियो ज्ञान तृप्ता कृतात्मानो प्रशांता ते सर्वगम सर्वतः प्राप्य धीरा युक्तात्मा सर्वमेवा विशंदी ऋषिया ज्ञान तृप्ता कृदात्मा प्रशांता कहते ऋषय कैसे ऋषि लोग हैं ज्ञान तृप्ता आत्म तत्व को सम्यक प्रकार से जान करके वो ज्ञान में ही तृप्त ज्ञान में सब कुछ परिसमाप्त तक है इसीलिए जो है ज्ञान में ही तृप्त हुआ रहते हैं जो ऐसे आत्मदर्शी लोग कृतात्मान और कैसे है वो ऋषिगण कृतात्मा है अपने आप को कृत कृत्य समझ चुके हैं सर्व कर्म का कर जो अग्नि का ही उद्वास कर दिए कर्म फल नहीं कर्म को भी त्याग कृतात्मा है वो अर्थात हर कर्मानुसार शरीर को चलने दिए हुए हैं अतएव भीतरागा और प्रशांता उपरत इंद्रिय वाले हैं ऐसे जो ऋषि लोग हैं एनम संप्राप्य ऐसा जो ऋषिगण आत्मदर्शी इस ब्रह्म को सम्यक प्रकार से अनुभव करके ते वे लोग वे ते धीरा वे धीर लोग जो ऋषि लोग हैं वे क्या करते हैं सर्वगम सर्वदा प्राप्त उसका अनुभव किस प्रकार किया उस ब्रह्म को सर्वगम मैंने सर्वव्यापक है और सर्वत्र प्राप्त कर सर्वदा प्राप्त किया सर्वत्र सब प्रकार से सर्वव्यापक रूप उस ब्रह्म को वे लोगों ने अनुभव करते हैं वो धीरों का विशेषण युक्तात्मान कैसे हैं वो धीर युक्त अंतकरण वाले हैं संयत अंतकरण वाले हैं अतएव वह सर्वरूपेण सर्व और सब प्रकार से उसी ब्रह्म को सर्वत्र अनुभव करने के कारण और सर्वमेव आविशंती सर्वरूप ब्रह्म में ही वो प्रवेश कर जाते हैं सर्व अभेद हो जाता है समस्त दृश्य के साथ अपना स्वरूप को अभेद रूपेण ग्रहण करते हैं किसी दृश्य विशेष के साथ अपना तादाप्य करके मैं करके अलग ग्रहण नहीं करते जो कुछ भी दृश्य अपना ही शरीर से लेकर के समस्त ब्रह्मांड को मन बुद्धि अहंकार से लेकर के शरीर को लेकर के समस्त ब्रह्मांड को ही अपने स्वरूप में परिकल्पित दृश्य रूप में अनुभव करते हैं और वह दृश्य दृष्टि रूप स्वस्वरूप से अभिन्न रूप में अनुभव करना यही वास्तव में आत्मा तो ब्रह्म में प्रवेश करना और कुछ नहीं है जिन्हें कहीं ब्रह्म बैठा है उसके पास जाएंगे और उसमें प्रवेश कर जाएंगे ऐसी बात यहाँ नहीं है सर्वभाव को प्राप्त हो जाना ही ब्रह्म प्रवेश है वही आज प्रारब्ध कर्म पर्यंत तदनंतर वास्तविक स्वरूप निष्ठा जब होती है विदेश मुक्ति में वहां पर जो है सर्व ही नहीं है अभी तो सर्वा सर्वम सर्वा पश्यति वाली बात बनेगा सर्वासन सर्वम पश्यति यथा स्वप्न ऐसे अनुभव होगा लेकिन स्वप्न में अज्ञान है और यह अज्ञान नहीं रहेगा जीवन मुक्त में अंतर है सम्राप्य समवगम्य सम्यक प्रकार से अवगम्य प्राप्ति का मतलब या ज्ञानानुभूति एनम आत्मा इस आत्मा को ऋषि दर्शन दर्शनमान पुरुष लोग तेन ज्ञान तृप्त न बाह्य न तृप्ति साधन कारण केवल ज्ञान से तृप्त अन्य किसी भी बाह्य साधन से उनकी तृप्ति नहीं होती तृप्ति के साधन माने जा रहे हैं शरीर के उपचय और अपचय का कारणीभूता जो पदार्थ है उन पदार्थों से उनको तृप्ति नहीं होती बल्कि ज्ञान से ही वे तृप्त है जैसे कहते हैं ना के महाराज जब हृदय में विचार आता है तो वहाँ बोलते हैं वो कहते हैं महाराज आपने हमें बहुत अच्छा ज्ञान दे दिया आप एक दस तो हजार गाय के साथ सांड को ले जाइए तो नहीं नहीं हमारे पिताजी ने कहा है जब तक ज्ञान की चर्चा पूरी नहीं हुई तब तक दक्षिणा नहीं ले रहा तो अच्छा इसका मतलब हमें अभी पूरा हुआ नहीं है कहते हुआ था अभी तो शुरुआत ही था इतने में तुम तो दक्षिणा देखिए छुट्टी कर रहे हो खुश हो गए अरे इतनी सी ज्ञान में खुश कैसे हो रहे हो अभी पूरा नहीं हुआ फिर थोड़ा आगे बढ़ाते हैं फिर देने लगता है और फिर दगते नहीं नहीं अभी नहीं फिर फिर करते करते करते करते जो है जब पूरा हो जाता है अब वो ये नहीं कहता हजार गए दूंगा या दस हजार दूंगा तो कहते हैं मैं और सर राज सब कुछ आपकी दास भाव में है सब कुछ दे क्यों आपने प्रतिष्ठित कर दिया तो ज्ञान में ही जो तृप्त होते हैं उनका यही स्वभाव हो जाता है जब तक पूरा नहीं बता पाएंगे तब तक उनको खुद को संतुष्टि नहीं होगी कहते हमने इसको बीच में फंसा दिया है नहीं इधर का वो तो उसको तो अक्ल है नहीं वो अपने आप को पूर्ण समझ गया उतरे में लेकिन अभी उसको अक्ल देना पड़ेगा ना भाई तो अभी पूरा नहीं है अभी तेरे को काम बाकी है वो समझाना पड़ता है और समझे भी ना हो तो बीच में ही निकलने को तैयार हो जाता है हम कई को बताते भाई अभी संन्यास नहीं लेना अरे कच्चा मामला और जबरदस्ती ले लेते घर बाद में शादी कर लेते क्या करें बड़ा मुश्किल है कले एक आया ऐसे पीले धारी पीले धारी पीताम्बरी बाबा तो मैं कहा कि हम जो है रक्तांबरी बनना चाहते हैं अरे भाई तो रक्तांबरी क्यों बनता है रक्त की कमी है क्या सोच ले अभी से रक्तांबरी बन रहा है जल्दबाजी में और पांच छह में रुक जा फिर देखते तेरा प्रारंभ क्या खेल रचता है छह महीने से पता लग जाएगा ना छह महीना और रुक तो जा दस सातों के लिए और छह महीने रुकने में क्या पत हो रहा है तेरे तो जाओ छह महीने फिर कहता है क्या देखो पता चल जाते पे, पेट से निकल गया बात वो कहता है बात आपका खाना लगता कुछ ठीक है क्यों कहते क्योंकि एक आदमी ब्राह्मण बहुत अच्छे हैं और कर्मकांडी हैं सब हैं वो अपने बेटी को दे रहे थे उन्होंने कहा गया ना तेरे पेट से निकल गया ना बात अभी तेरे मन में वही बेटी घूम रही है ना उसकी अरे बेवकूफ इसलिए रखता हमारी मत बनो अभी रुक जा देख ले उसकी शादी हो ना तब तो लेना नहीं तो नहीं लेना अहिमा लोग भी हट करके बैठ जाए पार्वती जैसे तो कहा जाएगा फिर फंस जाएगा तो इसलिए जो है रुक जा छह महीने के अंदर उसकी शादी हो जाएगी ना तब तो ले लेना तब तेरे वैराग्य अपना हो जाएगा सही नहीं तो इसलिए जल्दी नहीं करना चाहिए कोई भी काम के लिए हिसाब किताब लगाओ आराम से करो क्या दिक्कत है सारी जिंदगी रखी है मर भी जाए तो कौन सी आफत कर भगवान ने ठेका ले रखा है तो इस लाइन में आकर के मरा है ना क्यों में लगकर मरा है तो वो संभालेगा ना तुम क्यों परेशान हो रहे हो जो वहां में भगवान ने कहा रखा है भगवान पर विश्वास रखो अभी लान लेने से कहीं महानता ही मिल रही हो तो बात अलग है कहते नहीं नहीं नहीं फिर क्यों ले रहा है मैं चुप रहो अरे ठीक है महाराज जैसे आपका आज जैसे जाओ तो मान ले तो ठीक है नहीं तो बर्बाद होएगा आदमी को समझ में नहीं आता अगला का कहना इसलिए क्यों सुनना चाहिए ऐसे एक विलास था जानते विलास उसका नाम विद्यानंद हो गया था लाल वस्त्र ले लिया हमने उसको कहा भाई तुम पीले में रहो और मैं इधर हिमाचल गया और इधर पीछे से ले लिया ला अब बताओ क्या कहें उसको क्यों जानता था इनके रहते तो लेने नहीं देंगे ये हम निकले ने वो पीछे से ले लिया नतीजा हुआ वो फिर गड़बड़ सारा गड़बड़ हो गया उसका तो ये उचित नहीं है इसलिए बहुत सोच समझ के जो बाह्य विषयों से अभी अतृप्त है उसको पहले बाह्य विषयों से तृप्त होना पड़ेगा तब तो वहां से वैराग्य होगा तो ज्ञान से तृप्त होगा ना ज्ञान से ही तृप्ति पाना उसके लिए तो बहुत बड़ा विरक्त होना जरूरी राग भी तो कहते जिसके अंदर किसी भी प्रकार का राग नहीं है ब्रह्मलोक तक के ब्रह्मा जी के पद तक का भी जो पूर्ण वैराग्य शुक्र विष्ठावत जिसके अंदर भावना बन जाए वही व्यक्ति वास्तव में जो रक्तांबरी होने का योग्य होता है और कई तो यहाँ पर देख लेते हो तो महात्मा जो बड़ा कार में आते जाते हैं तो हम बिना साइकिल वाले हैं तो हम भी महात्मा बनेंगे तो कार वाले हो जाएंगे तो ऐसे जो महात्मा बनेंगे वो क्या महात्मा होगी आजकल दक्षिण में ऐसे बहुत सारे मिलते हैं हाँ साफ पता था बहुत लोग ऐसे हैं जो देखते हैं कि वहाँ के मथा को बोले चकाचौंध कमाल है इन्हें कहा को हम नौकरी वोकरी करे शादी करे बच्चा रवा तो सब कुछ मिल रहा है वो भी मिल जाती कोई बात नहीं क्या दिक्कत इसीलिए लोग बहुत भाग रहे कलयुग में ऐसा होता भी है अनुचित नहीं शास्त्रकार ने बताई है ना और ये जितने हैं जो ढोंगी साधु ये ज्यादा संख्या में हो जाएंगे और वो सच्चे साधु को घोषित कर देंगे ये आसाधु है और वो सौ मिलकर कहेंगे हम सब साधु है लोग यही कहेंगे ये जो है ना ये सही है और ये जो सही उसको गलत कह देंगे ये तो भागवत प्रमाण है लिखा है पैसों से साधु की गिनती होगी शरीर से साधु का गिनती होगा कौन है जो लंबा चौड़ा वो समझे हाँ और आप लोग हम लोग गिनती में नहीं आएंगे साधु आगे ज्ञान का कोई मतलब नहीं रहेगा कहने का तात्पर्य भागवत है वहाँ ज्ञान का कोई महत्व नहीं आपकी साधना आपकी तपस्या आपकी अनुभूति उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगी वो स्थिति अभी आ चुकी है काफी आगे और मजबूत होगा वो इसे कहते जो ज्ञान के द्वारा ही तृप्त है बाह्य तृप्त साधनों के जो शरीर के उपजे के कारण उनके द्वारा जो तृप्त नहीं मानता अपने आप को और ज्ञान सीख के अपने आप को तृप्त मानता है वह व्यक्ति ही इसको अनुभव कर पाता है कृदात्मा रहा परमात्म स्वरूप निष्पन्न आत्मा सुनत परमात्म स्वरूप से ही निष्पन्न आत्म स्वरूप वाला होने के कारण से उसके लिए कोई कार्य कर्तव्य नहीं रह गया जो अपने आप को परमात्मा से भिन्न मानता हो परमात्मा की पूजा करेगा ना उसके लिए जरूरत है फिर जो अपने आप को भेद में आ गया है उसके लिए कर्म है ये कर्म होता ही भेद में अभेद में नहीं अभेद में कहा से कर्म करोगे इसलिए कहते कि देखो कृतात्म ने परमात्म स्वरूप निष्पन्न आत्मा न संत परमात्म स्वरूप से निष्पन्न आत्मा वाला होने के कारण वह अपने आप को कृत्य मानता है यद किंचित कर्तव्य कृत्यम होती तो सर्वमया कृतम यकिंचित कृत्यम अर्थात कर्तव्य भवती तत्सर्व मैं कृतम अतएव अहम कृत कृत्योस्मी इस प्रकार का उसका निर्णय बन जाता है और विगत विगतराग दोष विगत विगतरागादि दोष वाला हो जाता है प्रशांत उपरत इंद्रिया ये सब उसके लक्षण है जो उस आत्मा में प्रवेश कर जाता है अर्थात वह जीव भाव से को परित्याग कर अपने ब्रह्म स्वरूप का अनुभव करने वाले का यह लक्षण है जो वीतराग है जो कृतात्मा है ज्ञान तृप्त है और कैसा है प्रशांता उपरत इंद्रिया सकल बाहेन्द्र भी उसको उपरत है अंतर इंद्र बाहेन्द्र उभय उपरत होने से वीतराग सकल दोष से रहित है यथा अतएव वह ज्ञान से तृप्त है ऐसा जो ऋषय धीरा युक्त आत्मान आज और दो विशेषण आएगा उन ऋषियों का इसलिए अर्थ किया था ऋषति गच्छति है ना ऋषति गच्छति कुतरा ब्रह्मणी ऋषति गच्छति थी ब्रह्म विषय सकल वृत्तियों के माध्यम से सुस्वरूप ब्रह्म को ही जो ग्रहण करता अनुभव करता उसका नाम ऋषि उसमें भी अनेक कोटि है नहीं है नहीं इसलिए कहते हैं भाई ये राज ऋषि है ये ब्रह्म ऋषि है ये देव ऋषि है कहते ही नहीं कहते उनमें भी अलग अलग कोटि क्योंकि मुक्त जीवन मुक्त अवस्था को भी अलग अलग कोटियों में सप्त भूमिकाओं में आपने देखा है सप्त ज्ञान भूमियों में चौथा से लेकर सातवें तक सारे के सारे जीवन मुक्तों की विभिन्न अवस्थाओं का रूप में वर्णन किया गया है होता सर्वगम सर्वव्यापीनम आकाशवत आकाशवत सर्वव्यापी उस आत्मा को सर्वतः मैंने सर्वत्र प्राप्त सर्वत्र अनुभव करता है पहले यद किंचित उपाधि में अनुभव किया था हृदय गुफा में उसी को कहा अनुभव कर रहा है नोपाधि परिच्छिन्न नहीं कदेशे न उपाधि से परिच्छिन्न किसी एक देशावच्छेद ब्रह्मा या आत्मा का अनुभव नहीं करता किंतु सर्वावच्छेदेन सर्वरूपेण सर्वाधिष्ठान रूपे नहीं वो आत्मा को अनुभव करता है किंतरी तद ब्रह्म द्वयम आत्मतिर प्रतिपद्य किंतु वो और कैसा अनुभव कर रहा है उस ब्रह्म को अद्वय भाव से आत्म रूप से ग्रहण करता है अद्वय ब्रह्म को अपनी आत्मा ही करके ग्रहण कर लिया कौन धीरा अत्यंत विवेकी केवल विवेकी नहीं अत्यंत विवेकी ही ग्रहण कर सकता है केवल विवेकी जो होता है वो साधन संपन्न होकर के वेदांत के अधिकारी बन जाता है जो अत्यंत विवेकी होता है वो ब्रह्मानुभूति का अधिकारी हो जाता है इसलिए यहाँ अत्यंत विशेषण दिया इनकी अनुभूति का प्रकरण है ये युक्तात्मा नित्य समाहित स्वभाव युक्तात्मा ने नित्य ही समाहित स्वभाव ये नहीं कुछ घंटों के लिए समाहित हो जाते हैं फिर वही लोग हो जाते हैं बाहर आ जाते हैं ऐसी बात नहीं वह बाईस वार के काल में भी वो नित्य ही समाहित अंत करने वाले हैं पर वो यही जानते हैं भाई ये सारे जो है ना अपनी इंद्रिया इंद्रियश्वर तो है ये इंद्रिया अपने विषय में भ्रमण कर रहे हैं और वह एक दृश्य मात्र मिथ्यावत भ्रमण है मिथ्यावत कर्तृत्व भक्तृत्व का व्यवहार हो रहा है ऐसे उसके निश्चय नहीं गिनाते तो उसका अंतकरण नित्य ही संयत होता है सर्वमेव मैंने समस्तम एवं शरीर पात काल यारवा नहीं है अच्छा, लिख लेना शरीर पात काल है अपनी आवेशन चाहे शरीर के पात काल में भी इस तरह का अनुभव कर लेता है तो भी वह थी वह आत्मा जीवात्मा ब्रह्म प्रवेश कर जाता है उसी प्रकार जिस प्रकार भिन्ने घटे घटाकाश घट का नाश हो जाए तो घट घटाकाश जैसा महाकाश में होता है उसी प्रकार से अविद्याकृतोपाधि परिच्छेदम जहति क्योंकि अविद्याकृत जो उपाधि था उस परिच्छेद को उसने पहले ही त्याग दिया था जीवन मुक्त अवस्था में अब तो वह पूर्ण रूपेण छूट गया अतएव जो है वह पूर्ण रूपेण ब्रह्म स्वरूप निष्ठ हो जाता है एवं ब्रह्म विदो ब्रह्म धाम प्रविशंति इस प्रकार से ब्रह्मविद जो है ब्रह्म धाम में प्रवेश करते हैं समझो वेदांत विज्ञान सुनिश्चित संन्यास योगा शुद्ध सत्ता ते ब्रह्म लोकेश परांधकार परामृता परिमुच्यंती सर्वे इतना ही नहीं और क्या विलक्षण होता है तो उसका भी वर्णन करते हैं सर्वे परिमुच्छन जो जो लोग एक लोग नहीं जितने भी हैं सब के सब मुक्त हो जाएंगे कौन लोग वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ वेदांत के विचार से उत्पन्न जो विज्ञान है उस विज्ञान के द्वारा जिन लोगों ने अप्रज्ञात परम परमात्म स्वरूप का सम्यक प्रकार से सुष्ट प्रकार भली प्रकार भली भांति से निश्चय कर लिया है वेदांत श्रवण श्रवणांतर उत्पन्न विचार उस विचार जन्य जो विज्ञान पहले विज्ञान नहीं था श्रवण काल में केवल शब्दार्थ ज्ञान है शब्दार्थ ज्ञान से जो उत्पन्न विचार है शब्दार्थ विषय विचार ही है उस शब्दार्थ विषय विचार को लेकर के और गहराई में जब मरण और सुदृढ़ होता है तब विज्ञान किंचित अनुभूति की ओर आप आगे बढ़ते हैं पहले केवल ज्ञान था और विज्ञान में परिणत हो गया और विज्ञान जैसा जैसा और मजबूत होता निर्ध्यासन के अभ्यास के द्वारा तब उस व्यक्ति को उस वेदांत का विषय होता शुद्ध ब्रह्म तत्व के बारे में सुष्ट निश्चय हो जाता है ऐसे निश्चय वाले जो लोग है उन लोगों को कहा जाता है वेदांत विज्ञान सुनिश्चित अर्था संन्यास योगा यत शुद्ध सत्ता संन्यास योगा संन्यास योगा क्या संन्यास मैंने ब्रह्म निष्ठा रूप जो संन्यास जब निश्चय हो ही गया पहले ही बोल दिया संन्यास तो पहले होता है ना लिंग लिंग धारण पहले आ चुका है वो अलग वो तो अज्ञान काल में ज्ञानानुभूति के लिए संन्यास से विरक्त होकर के प्रवेश कर विवेक वैराग्य संपन्न व्यक्ति संन्यास विदुषु सन्यासी का बात और यहाँ पर विद्वत संन्यास का बात हो रहा है जो व्यक्ति स्वरूपानुभव कर लिया निश्चय पूर्वक स्वरूप अनुभव हो गया है इसलिए संन्यास योगा में तक जो संन्यास ऐसा कर उसको कहेंगे इसलिए संन्यास संन्यास योग से यत शुद्ध सत्वा कौन है ये यत तीन लोग हैं जो कि कैसा है वो शुद्ध करण वाले पुरुष हैं वे लोग ते ब्रह्म लोकेशो ब्रह्म लोकेशो बहुवचन जो प्रयोग किया है अनेक जीव मान करके अनेकों जीव मुक्त होकर के सब ब्रह्म में जा रहे हैं जैसे ब्रह्म एवं लोग जो लोग प्रत्येक जीव का अपना अपने हिसाब से अनेक ब्रह्म लोग कहा जाता है यद्यपि ब्रह्म विचार करेंगे इस पर क्यों बहुवचन हुआ ते ब्रह्म लोकेश परांत काल है परांत काल है ये सभी को अपरांत काल अनुभव में आया ही है और देख भी रहे हैं और आगे होते भी रहेगा इन परांत काल उसे कहते हैं जहाँ पराविद्या से व्युत्पन्न व्यक्ति का अंत काल होता है मैंने विधेय मुक्ति के पूर्व कालीन जो शरीर का मरना और जो हरे एक जन्म जब मर रहा है शरीर मर जा रहा है तो उसको क्या हम कहेंगे अपरांत काल अपर विद्या का विषयभूत होकर के जिसके अंत काल है उसका नाम अपरांत काल है और ये परांत काल है जीवन मुक्त का शरीर छोड़ते वक्त परामृता परिमुच्छन्दी सर्वदेव सब उस अमर धर्मात्म भाव को प्राप्त कर लेने के कारण से सभी ओर से वे लोग मुक्त हो जाते हैं परिमुच्छन्दी किंच वेदांत जनितम विज्ञानम वेदांत विज्ञानम वेदांत से जन्य जो विज्ञान वेदांत विज्ञान कहा जाता है तस्ता उसका पदार्थ क्या है वेदांत विज्ञान का विषय क्या होगा परमात्मा वही परमात्मा एक बात वेदांत के द्वारा तम तो ब्रह्मा विजानिया जो कहा गया है तद अनुसार स्वर्थ सुनिश्चित हो ये शाम वह तत्व का निश्चयानुपूर्वक जो सम्यक सुष्टु निश्चय पूर्वक जो अनुभव कर लिया है जो लोग उनको कज जतते वेदांत विज्ञान सुनिश्चित था टीचर और जो लोग वे लोग कैसे हैं सन्यास योगा सर्व कर्म प्रत्याग लक्षण योगा या कर्मफल नहीं और तो गया पहले छोड़ चुका था अब तो कर्म भी छोट छोड़ जाता है अब कर्म में भी नहीं लगा रहा था अब प्रारंभ कर्म अनुसार जो हो गया सो हो गया कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे उसे त्रिपुंड लगा है ना लगा माला पहने ना पहने कौन से फर्क पड़ने वाला है तो ब्रह्म है ना कुछ फर्क नहीं पड़ता चाहे नंगा रहे नागा बने घूमे वस्त्र की भी कोई जरूरी नहीं है है नहीं जैसा भी रहे उसका तो कोई उन्मत्त कहा नहीं इसलिए पागल जैसे रहता है मूढ़वत जड़वत इत्यादि वर्णन किया इसीलिए ही इस अवस्था में रहने वालों का कोई भरोसा नहीं किस रूप से रहता है अतएव लोगों को ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मज्ञानी पुरुषों का पहचान नहीं हो पाता वो तो बाई चीज देखते ना हाँ ये जो है रोज सवेरे नहाते हैं रोज जो पूजा पाठ करते हैं त्रिभुंड लगाते हैं सब बढ़िया है बहुत अच्छे हैं यही संत सही है और भले ही हो गड़बरानंद है या नहीं अब उसका नित्य नियम को देख करके आप साधु बन रहे हैं उनका चेहरा बन रहे हैं नहीं उसे नहीं उनका ज्ञान को देखिए गुरु बनाने से पहले गुरु का ज्ञान को देखना पड़ता है कितने पानी में भाई व्यवहार मत देखो बाहर में गाड़ी घोड़ा है या नहीं उसे क्या लेन देने बड़ा मठ है या छोटा मठ या है ही नहीं मत उसे क्या मतलब है आपको उनके दान दौलत उनकी संपत्ति यह उनका बाह्य वेशभूषा यह उनके जो दैनिक क्रियाकलाप इन चीजों से आपकी मुक्ति होने वाला नहीं है आपकी मुक्ति ज्ञान से होना है ना किन चीजों से होना है इन चीजों से नहीं होता ज्ञाना देव तो केवल और इसलिए हमें जिसको गुरु बनाना उसके पास ये देखना है कि भाई जिससे मेरी मुक्ति होनी है वो चीज इसके पास है या नहीं अभी लाख रुपये रहे तो हमारे क्या बिगड़ेगा उसे और लोग हम भी गड्ढे में जाएंगे गुरु चरण रख में ठेला ठेला हो जाएगा बाद में ये देखना है कि इस व्यक्ति के अंदर जिससे मेरी मुक्ति होनी है वो चीज के पास है या हमारी मुक्ति यदि ज्ञान से होनी है तो हमें देखना पड़ेगा भाई इसके अंदर ज्ञान है यदि आप मानते हो माला धारण करने से मुक्ति होती फिर ये देखो कि ये माला धारण किया कि नहीं किया फिर खुद ही नहीं किया तो मेरा क्या मुक्ति करेगा है त्रिकुंड लगाने से मुक्ति होती तिलक लगाने से फिर ये देखो जो तिलक लगा रखा है वो खुद ही जो तिलक नहीं लगाया तो वो उसकी भी मुक्ति नहीं होगी तो आपकी क्या होगी तो यहाँ समझते हैं जिसके पास कार घोड़ा घोड़ी होनी चाहिए चीला चिले सो बीस होना चाहिए लंबा छोटा आश्रम खेती बाड़ी होना चाहिए यही मुक्ति है तो ठीक है भाई फिर उसको उसका चेहरा बनो और तुम भी हासिल करो यही तो होते हैं आजकल आप किससे मुक्ति मान रहे उसके ऊपर निर्भय है ना यहाँ तो मुक्ति चाहते ही नहीं तब तो बात ही अलग बात छुट्टी करो आप मुक्ति चाहते ही नहीं इसलिए हम ऐसे गुरु को ढूंढ रहे हैं जिसके पास पैसा कौड़ी है माल मटेरियल है नहीं बड़ा संपत्ति है ऐसे आदमी को वो ढूंढता है जिसको मुक्ति की जरूरत ही नहीं वो इन बाह्य आडम्बरों को देखते फिर तो ज्ञान से तृप्त होने की इच्छा ही नहीं उसको वो प्यासा ज्ञान के लिए नहीं है मोक्ष का प्यासा नहीं है वो वो तो धन दौलत का प्यासा है संपत्ति का प्यासा है बाह्य आडंबर का प्यासा है तो उसी से तृप्त होने वाला है इसलिए पूर्व में क्या है ज्ञान तृप्ता तो ज्ञान तृप्त होना है तो आपको ज्ञान के प्यासे होने पड़ेंगे और इसलिए आप जिसके प्यासे हैं उसी को तो ढूंढोगे ना नहीं दूसरी चीज को ढूंढोगे पानी पीना चाहते और दारू को ढूंढोगे ये कैसी बात है भाई है? पीना चाहते हो पानी और ढूंढ रहे दारू की दुकान पूछ दारू का दुकान कहाँ है लेकिन दारू भी मिलेगा ना वहां पानी नहीं मिलेगा क्योंकि तुम जिसको चाह रहे हो उसको तुम ढूंढ ले रहे हो मेरे कहा से हो तुम ढूंढ अलग चीज करो ना इधर से चाह रहे हो ज्ञान को और ढूंढ रहे हो माया को दारू की अविद्या है माया है नशा है और चाह रहे हो इधर बड़े मुक्ति को ज्ञान को और ढूंढ रहे हो मायावियों को कि भाई आडम्बर वाले पुरुषों को तो ऐसी स्थिति में आप कहा पहुंच गए अपने आप सोचो इसलिए शास्त्रकार ने इन शब्दों के बहुत जोर देते हैं यहाँ पर इन चीजों पर कि आप देखिए कौन किस स्तर पर है अभी तक साधन काल में क्या बोलते हैं हमेशा कर्म फल त्याग करना जरूरी है और यहाँ करके तो नहीं सर्व कर्म पर वही स्रोत कर्मनिष्ठ हो सकता है ना जो कर्मादियों से झगड़ा हुआ अभी भाई आडम्बरों से झगड़ा हुआ जो व्यक्ति होता है वह कभी जो है वह स्वरूप अनुभूति कर नहीं सकता कि ये बाह्य आडम्बर कर्मादियों में द्वैत की अपेक्षा है भेद बुद्धि की अपेक्षा है वह अद्वैत और अभेद का अनुभूति कर ही नहीं सकता है जिसको अभी तक इन चीजों का होश है मैं शरीर हूँ मेरे शरीर में भी त्रिपुंड नहीं लगा मैं नहीं नहाया हूँ यदि इन्हीं चीजों में चक्कर में पड़ा हुआ है तो फिर उसे उठा ही नहीं हो वो स्थिति ही अलग है सर्वत्र ब्रह्मनिष्ठ की स्थिति हो रहा है तो ठीक हो रहा है संस्कार वशात अनेकों जन्मों से उसने साधना किया उपासना किया है जब तक किया है स्नान ध्यान किया है वशात जो हो रहा है तो हो रहा है नहीं भी होता है तो उसको कोई दुख नहीं होती परेशानी नहीं होती इसलिए कहते यहाँ सर्व कर्म परित्याग लक्षण योगा केवल ब्रह्मनिष्ठ स्वरूप आ गया संन्यास योगा का मतलब केवल ब्रह्मनिष्ठा का स्वरूप उसके अंदर है और कुछ भी नहीं ऐसे जो यतयो यतनशीला शुद्ध सत्वा ऐसे जो यत्नशील है शुद्ध अंतकरण वाले हैं शुद्धम सत्यम ऐसा संन्यास योगा संन्यास योग से अपने आप उन अंतकरण शुद्ध है ज्ञान के सदृश कोई दूसरा पावक नहीं है नहीं ज्ञान है सदृशम पवित्रम यह विद्यते कहा है ना भगवान ने ज्ञान के सदृश कोई और आपको शुद्ध करने वाला चीज है ही नहीं संसार में और श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ के ब्रह्म निष्ठा रूपा जो योग है उसी के कारण सुख अंतकरण पूर्ण शुद्ध है ते ब्रह्म लोकेशो संसारी नाम एवं मरण ते अपरांता आगे न ना संसारी लोग जिनका मरण होता है उनके मरण काल को क्या हम कहते हैं अपरांत काल कहते हैं क्योंकि अपर विद्या भूता जो कर्म उपासना आदियों को ही अहंता ममता के साथ कर्तृत्व भोक्तृत्व को धारण करके उन संसारियों ने जीवन भर अनुष्ठान किया है अति संसारियों का मरने का नाम अपरांत काल तान अपेक्ष उन लोगों की दृष्टिकोण से कहा जा रहा है इन मुमुक्षों को मुमुक्षो नाम संसार अवसाने मुमुक्षों की अपना संसार अवसान काल में देह प्रत्याग काल संसार अवसान काल क्या है उनका देह प्रत्याकाल ही संसार अवसान काल है उसी समय उनका संसार ही खत्म हो जाएगा क्योंकि उनकी गति नहीं होती गत्य भाव जो है संसार का ही अभाव हो जाने वाला है ऐसा जो देह प्रत्याग काला परांत काला इसे मोक्षों का जो देह प्रत्याग काल है उसको हम परांत काल कहते हैं क्योंकि पराविद्या में अपनी निष्ठा को बनाए रखते हुए वह शरीर को त्याग रहा है अतएव उसका शरीर त्याग काल का नाम परांत काल हो गया परांत काल तस्मिन परांत काल है उस परांत काल में ते ब्रह्मलोकी वचन क्यों बोला लेकिन साधकार बहुत ब्रह्म लोको ब्रह्मलोक एको भी अनेक दृश्य थे प्राप्त थे साधकों के बहुत को देखते हुए ब्रह्म ब्रह्मण लोग नहीं छठी चतुर्थ समास नहीं करना क्रम ब्रह्म लोक यदि लोक ऐसे करते एकोपी वहां भी एक है जो ब्रह्म एक है इधर ब्रह्म रूपी लोग भी एक ही होगा तो हो ही नहीं सकता एको भी अनेक दृश्यते लेकिन अनेक के समान अनुभव में आता है प्राप्त देवा अगर प्राप्त हो जाता है लोगों को क्योंकि अनेक जीव है अनेक साधक है सब अलग अलग प्राप्त कर रहे हैं इसलिए आप देखते अमुक के निर्वाण महोत्सव कैलाश आपकी पंचांग देखिए कम से कम सौ लोगों को ब्रह्म निर्वाण हो चुका है नहीं सब मुक्त हो चुके हैं उन सब के निर्वाण महोत्सव तो लेकिन सौ लोगों के लिए सौ ब्रह्म लोग हुए कि नहीं हुए सौ लोगों के शरीर छूटने का अलग अलग काल है ना उन सौ साधकों ने शरीर छोड़ा और सभी ने अलग अलग काल में पाया है उसको लेकर कहा जाता है बहुत इन वास्तव में वो एक ही कि सभी ने जो पाया है वो उसी को पाया है जो पहले वाले ने पाए वही अंत वाले ने भी उसी को पा दिया अलग से नहीं कोई भिन्न नहीं है वो इसलिए कहते कि देखो कि एको भी अनेकवत दृश्यते प्राप्त देवा अतो बहुवचनम ब्रह्म इति इसलिए बहुवचन प्रयोग कर दिया ब्रह्मलेखेशु करके वास्तव में क्या है ब्रह्मणी इत्यर्थ एक वचन परम अमृतम अमरण धर्मगम ब्रह्म आत्मभूतम येषाम ते परामृदा देव ब्रह्मभूता परामृत में पर जो निरतिशय जो अमृतत्व अमरण अमर धर्म स्वरूप जो ब्रह्म उसको अपने आत्मभाव से अनुभव कर लिया आत्मभूतम एशाम ते उन्हें कहा जाता है परामृदा अर्थात जीवन देव ब्रह्मभूता जो जीवित काल में ही ब्रह्मभूत होकर के जीवन मुक्त हो रखे थे वे लोग परामृता सुनत ऐसा होकर परिमुचिंती परि समता प्रदीप निर्माण घटाकाश वृत्ति निवृत्ति उपयांती प्रदीप के निर्माण के समान या घटाकाश के समान मानव अपने स्वर्ग सिद्धि को प्राप्त कर जाते हैं और परिमुचंदी धीरा परिमुचंदी परि समता मुचंते सर्वे न देशांतर गंतव्य वे सब के साथ देशांतर उनके लिए कोई गंतव्य की अपेक्षा न होने से स्वरूप में ही वे सब लीन हो जाते हैं शकुरी नाम आकाशे जले वारी चरस्य पदम यथा न दृश्य तो तथा ज्ञान अवतांग गति ज्ञानवान पुरुष की गति को आप पहचान नहीं सकते जैसे आकाश में उड़ते हुए पक्षियों का पग चिन्ह को आप ग्रहण नहीं कर सकते जल में चरता हुआ मछली का पग चिन्ह को आप ग्रहण इस प्रकार नहीं कर सकते हैं ठीक उसी प्रकार से ज्ञानवान पुरुष के गति को कोई भी ग्रहण नहीं कर सकता पदम यथा दृश्य तो जैसे वारिचर का या शकुनी का पद चिन्ह ग्रहण नहीं होता उसी प्रकार ज्ञानवान पुरुष गति भी कोई ग्रहण नहीं कर सकता ऐसा स्मृतिकारों ने उस स्थिति का उस परांत काल के ब्रह्म ज्ञानवान पुरुष के ये शरीर छूटने के बारे में वर्णन किया है अनध्वगा अध्वस पार इष्णव अनध्वगा अध्वस पार इष्णव ऐसे भी कहा संसार के पार जाने की इच्छा रखने वाले अध्वसु पार इष्णव संसार मार्गों को अतिक्रमण कर इन सब के पार करने के लोग वाले वाले जो लोग हैं वो कैसे होते हैं वो अमार्गी ही होते हैं उनके कोई मार्ग ही नहीं होता अनध्वगा वो किसी मार्ग में नहीं जाते जो संसार को पार करना चाहते हैं उस पार करने के लिए कोई मार्ग ही नहीं है इसलिए किसी मार्ग को अपनाते ही नहीं अर्थात वे अपने स्वर पर पहुंच गए तो संसार से पार हो गए और संसार से पहुंचने कोई मार्ग है क्या इसे उत्तरायण मार्ग दक्षिणायन मार्ग जैसे मार्ग वर्णन किया आप अपने जीव स्वरूप से ब्रह्म स्वरूप में पहुंचने के लिए कोई मार्ग माना जाएगा कोई मार्ग नहीं है मार्ग तब अपेक्षित होता है जब गंतव्य से गंता भिन्न होगा तो है कि नहीं स्व से भिन्न कोई गंतव्य हो उसके लिए मार्ग अपेक्षित होता है जब स्व से अभिन्न गंतव्य स्वरूप है तो ऐसी चीजें मार्ग की अपेक्षा ही नहीं इसलिए संसार जो अनेक मार्गों वाले इस संसार को पार करने के इच्छुक जो होते हैं वे वास्तव में अमार्ग में स्थित होते हैं अनध्वगा यदि श्रुति स्मृति देश परिचन्ना ही गति संसार विषय एवं इस प्रकार अनेक स्मृति और स्मृति प्रसिद्ध है और इसी प्रसिद्धि के आधार पर कहते हैं कि देश परिचन्ना ही गति संसार विषया एवं देश से परिचिन जो गति होती है वो संसार विषय की ही होगी परिचिन साधन सदित्रात क्योंकि परिचिन साधनों से बोधा होने से ब्रह्म तो समस्त न देश परिच्छेद गंतव्यम जो कुछ भी है वह सब कुछ ब्रह्म ही है अतएव देश से न होने के कारण से वह गंतव्य ही नहीं यदि देश परिचिन्न ब्रह्म सियात और यदि मान भी लो देश परिचिन ब्रह्म इसलिए गंतव्य है वो और सात आसमान के ऊपर होता है वहां पहुंच जाऊंगा मैं कहते फिर तो गड़बड़ होगा फिर तो मूर्त द्रव्यवध आद्यम अन्य अन्याश्रम सावयव अनित्यम कृतगंज तब तो ये होगा फिर तो मूर्त द्रव्य मानना पड़ेगा उसको मूर्त द्रव्य जैसे घटपटा दिए हैं वैसे उसे भी मूर्त द्रव्य मानना होगा और उसके भी आद्यंत वाला उसे मानना होगा अन्याश्रित भी मानना होगा उसे जैसे घट श्रुत है वह ब्रह्म भी कहीं ना कहीं आश्रित मानना पड़ेगा सहावय मानना होगा और इस प्रकार से मूर्तिमान है आद्यंत वाला है अन्याश्रित सवय है वह अवश्य अनित्य होगा और वह कृतक भी होगा ऐसा मोक्ष कोई नहीं चाहता चाहते ऐसा मोक्ष कोई कोई कृतक अनित्य सुख को नहीं चाहते हैं मूड जरूर चाहेगा अमूड तो कभी नहीं चाह सकता है या नहीं मूड तो कभी नहीं चाहता है मूड तो सदा चाहता है शरद कुमार आदियों को उत्पन्न करने के बाद में ब्रह्मा जी ने कहा भाई आप लोगों को जो है संसार को बढ़ाना है तो लोगों क्या करना पड़ेगा कहते हैं अभी नहीं अभी तुम छोटे बच्चे हो पांच साल के हो थोड़े बड़े हो जाओगे पंद्रह सोलह साल के तब तुमको शादी कराएंगे तुम शादी करोगे और उसे बच्चे होंगे और उस माध्यम से संसार आगे बढ़ेगा तो उन्हें गड़बड़ घोटाला है ये तो <laughs> ये ठीक नहीं है तो बवाल आ जाएगी पीछे फिर कोई ये अच्छा बात नहीं है तो उन्होंने बड़ी तपस्या करी और पांच का पांच ही रह गए पांच साल गई आगे बढ़ने नहीं दिए उम्र को न जवान होंगे न शादी होगा न कोई झंझट होगा ये अमूर् कहानी है विवेकियों का कहानी यही है इसलिए उनका नाम ही क्या था नित्य सनत का अर्थ भी नित्य है सनातन का अर्थ भी नित्य है सनत कुमार का भी अर्थ भी नित्य ही है सनत का भी अर्थ भी नित्य ही है जिसने जो नित्य को चाहता है वो अखंड ब्रह्मचारी रहेगा जो अनित्य को चाहता है वो सखंड ब्रह्मचारी हो जाएगा कहने के लिए ब्रह्मचारी भी रहेगा अभी चीजें खंडित होते भी रहेगा सखंड ब्रह्मचारी तो इसलिए कहते कि देखो हाँ, ये अनित्य को तो कोई चाहता है नित्य को सभी चाहते हैं अपिच अविद्या संसार बंधा अपनयनम एवं मोक्षम ब्रह्म वेदा न तो कार्यभूतम मगे ना जो भ्रमित होगा विवेकी होगा वो कैसा चाहते हैं अविद्या संसार का बंधन का ही अपरण रूपा मोक्ष को चाहते हैं न तो कार्यभूता मोक्ष कोई नहीं चाहता अनित्य कृतक मोक्ष को कोई प्रवृत्ता विवेकी पुरुष नहीं चाह सकता इसलिए मानना पड़ेगा जिसको सविचार है वो नित्य को चाह रहे हैं अनित्यों से जो विमुख है वो नित्य को अवश्य चाहते हैं क्योंकि अनित्य पहले से प्राप्त था ही ना अनित्य सुख तो बचपन से सभी को अनुभव में आ ही रहा है किसको नहीं आया है माता का गर्भ में लेकर से लेकर के अभी तक अनेकों प्रकार के नित्य सुखों का आपने अनुभव किया अनेकों प्रसंग आए जो इतना प्रसन्न इतने आनंदित होते हैं आप बड़ा खुश होते हैं है कि नहीं हंसते हैं खुल करके खुश ना होते तो, तो हंसते कैसे रोते ही रहते लेकिन कितने देर तक टिकाओ वह आनंद क्षणिक ही रहा है इसलिए हर एक व्यक्ति क्षणिक अनित्य सुख को अनुभव किया ही है वो दोबारा उस अनित्य सुख को चाह नहीं सकता है जो भी व्यक्ति है वह व्यक्ति निश्चित रूप से अनित्य सुखों से ऊब करके नित्य सुखों की ओर गया हुआ है और जो कहो तुमको जो मिलेगा मोक्ष वो भी अनित्य है फिर तो करेगा क्यों प्रयास वेदन पड़ेगा क्यों इसलिए कहते हैं जो प्रारंभिका कला प्राणाद्या स्वाम स्वाम प्रतिष्ठांगता मोक्ष का भी होता है क्या है वह अपने स्वरूप में लीन होता है नित्य मोक्ष का प्राप्त करता है कहा आपने कैसे कहते गदा कला पंचदश प्रतिष्ठा देवाच सर्वे सो कर्माण विज्ञान मयश्चात्मा परे अभी सर्व एक ही भवंती देह के आरंभक जो प्राणादि पंद्रह कमाए प्रश्नों परिषद के अंतिम प्रश्नों का वर्णन किया गया था वो सारे के सारे क्या होते प्रतिष्ठित हो जाते प्रतिष्ठा भवंदी सब के सब अपने कारण रूपा आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाती है देवा च सर्वे इन चक्षुरादि इंद्रिया और इन इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता प्रतिदेवता सो देवा इंद्रिया और इंद्रिय प्रतिदेवता मैंने उनका अधिष्ठात्र देवता ये सब के सब अपने अपने स्वरूप में लीन हो जाते हैं अर्थात आदित्य आदि में लीन हो जाएंगे कर्माणी और यह कर्म भी उसके जितने भी संचित आदि कर्म है और क्रियामान कर्म है कार्यक्रम तो क्षय होकर शरीर छूटी गया और जो भी कर्म थे सब के सब क्या हुए कत वो भी सब एक ही भवंदी सर्वे परे एक ही भवंदी वह पर बुतावे तब तुम एक ही भूत हो जाते हैं विज्ञानमय और जो अभी तक अविनाशी के समान था अनंत जन्मों का भूता जो विज्ञान में आत्मा यह विज्ञान में आत्मा भी क्या होता है वह भी पर अव्य उस पर अव्यय तत्व में अविनाश परमात्म तत्व में ही एकता को प्राप्त कर लेते हैं मानो घटत जल के अंदर प्रतिबिंब के रूप में विद्यमान वस्तु जैसे घट का नष्ट होने से जल भी बिखर जाता है तो प्रतिबिंब बिंब में वापस लीन हो जाता है उसने शरीर का नष्ट होने से शरीर मात्र है परिच्छिन्न होता हुआ विज्ञान में जो आपका तब अभी प्रतिबिंबात्मक जीवात्मा स्वरूप होता ब्रह्म बिंब होता आपका ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म ही लीन हो जाता है भाष्यकार कहते हैं मोक्षकार है यह ध्यार्मिका कला प्राणाध्या स्वाम स्वाम प्रतिष्ठांगता वे सब अपनी अपनी जो प्रतिष्ठा क्या है कारण स्वम स्वम कारणंगता भवंती अपने अपने कारणों में लीन हो जाते हैं और वे इसके सुख शरीर बन करके साथ में नहीं जाते कितने ब्रह्म स्वरूप में चला गया और सर्वत्र आने वाला है इसलिए गमनागमन के कारणीभूता जो सूक्ष्म का वही बनते रहे ये जो पंद्रह प्राण आदि वे अपने अपने कारणभूत तत्व में ही लीन हो जाते हैं